नबी कहाँ पैदा हुआ है नबी मौसम बिहार के पहले महीने में हाथी के साल में मक्का में पैदा हुआ था